कॉन्टेक्स्ट में हाँ। गालिब की शायरी उस पीरियड को हम लेते हैं हाँ। जब ये मुसलमानों ने अरबी और फारसी और हिंदुओं ने संस्कृत इसका झंडा गाड़ना चाह हाँ। उसी कई सौ साल के पेटे में हाँ। गालिब पैदा होता है होता है अब उस गालिब के शायरी को आप कहाँ रखेंगे मैं बता देता हूँ और उसकी मैं फराग साहब आप इजाजत दें हम आप अपना ख्याल तो ये जो सवाल किया है आजाद साहब ने तो इसमें एक स्टेटमेंट भी है जिससे मैं बुनियादी तौर पर मुतफिक नहीं हूँ वो हिंदू और मुसलमान इसलिए फिक्र था ना फारसी दरबार की जबान थी तो सरकारी जबान खाते पीते करो जी हाँ और जब हम देखते हैं खुद गालिब के जो शागिर्द थे तो तख्ता का नाम नजर आता है वो फारसी लिखते ही थे फारसी में लिखते थे सारे गालिब का दीवान गालिब का दीवान जब छापा तो आगरे में उनके एक हिंदू शागिर्द ने छापा जिसका मतबा था वो जिल्लू नारायण शिव नारायण जिन्होंने कोई भी हिंदी और संस्कृत की किताब नहीं छापी है खुद उस जमाने में गालिब ही इसको कहते थे मेरा हिंदी कलाम जी तो ये कहना कि मजहब की बुनियाद नहीं ये सवाल जो था मजहब नहीं मजहब नहीं भाई लंदन सब जगह पर लोग रोग था पास्ट का तो कहते थे कि अगर हम जो घर में बोलते हैं उसी जबान में कुछ पढ़ाएंगे तो इसको आएगा क्या अच्छा तो वो जो वह वो जबान घर में बोलने वाली जब फारसी से बड़ी जबान हो गई करीब करीब कई कई मानों या संस्कृत से कई चीजें तुलसीदास के वहां ऐसी है कि कालिदास तर्जुमा नहीं कर सकते ठेठ लफ्ज बना अच्छा हालांकि कालिदास के पावर को कौन डाउट कर सकता अच्छा सुनिए जैसे कोई ये समझे कि चांदनी चौक में हम जब तक अंग्रेज बन के ना निकले हमको रिक्शा ड्राइवर समझा जाएगा तो ये चीज लिटरेचर में भी थी डेकोरेटिव की इज्जत अनयूजुअल की ये एक बीमारी होती है तो एक, एक, एक चीज हाँ। इसी बात पूछूंगा कि अभी आपने पहले कहा था कि संस्कृत से सब जबाने निकली बहुत सी जबाने और अभी आपके कहने में आ रहा है कि संस्कृत एक शौक के बतौर या बाद को बाद, बाद को बाद को तो तब तो से नेचुरल था तो उसमें ये नहीं माना जा सकता कि वो लोग ये अपनी जबान की जो बुनियाद है उसको जानने के लिए पढ़ना चाहते, चाहते थे हाँ बुनियाद को अगर मजबूत कीजिएगा तो बुनियाद में नहीं आप पहुंचेंगे आप सीधे पाताल में अगर आप मैं उसी अच्छा इसी में इसको साफ कर लेते अच्छी बात मैं जैसे ये ले लू कि भ्रातृ से बिरादर भी निकला है ब्रदर भी निकला है और भाई भी निकला लेकिन चीनी हिंदी भ्रातृ भ्रातृ बल्कि अभी चाइना ने किसी अभी आज छपा पा ना उन्होंने किसी और नेशन से ईरान इराक ईरान इराक भाई भाई, भाई। तो वो जो निकलता है जो लफ्ज वो जिस लफ्ज से निकलता है उससे बड़ा हो जाता हाँ। से भाई बड़ा हो चुका है आज में हाँ? भ्रात से भाई लफ्ज हाँ। में इस्तेमाल हो रहा है भाषा के ऊपर मैं मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बात हिंदुस्तान में पहले भी रही जिस वक्त वेद की संस्कृत थी और क्लासिकल संस्कृत थी बात को बात को उसके बाद ये जो अपभ्रंश भाषाएं आई और जो बुद्ध की जबान थी और महावीर की जबान थी और जो मागधी और अर्धमागधी अर्धमागधी यानी ये कि मगध के लोग भी समझें और बॉर्डर एरिया के भी समझें हाँ। तो ये तो बड़ी भारी एक क्रांति थी और उसी से आगे की जबान हमारी विकसित हुई हाँ। और जिसे आज हम बाद में देखते हैं कि अवधि में है या भाषा में है या हिंदी में है जी जी। तो ये जबान का विकास तो बराबर चल रहा है हाँ, और भी जो होता रहा वो भी तो भूलिए तुलसीदास जब रामायण लिखते हैं तो आप तो कहेंगे हम आपसे एग्री भी करेंगे कि विकास हुआ और जो ढेला फेंका गया था अच्छा, मार डालो इसको हम्म, हम्म। सब कबीर पर तो किसी ने ढेला नहीं तो मैं बताऊं कबीर का ये ढेला फेंकना तो एक इंसिडेंटल भी कह सकते हैं कि वाकया ये है कि एक प्रोफेसर थे नाम नहीं लूंगा उनको सिर्फ ये डर रहता था कहीं मेरी बात लड़के समझ ले <laughs> अच्छा लुच्चे को मुश्किल बात नहीं होती थी वो नॉनसेंसिकल होती थी इसलिए और डरती थी अच्छा तो इस बात को समझने में हम हम में से किसी को देर नहीं लगनी चाहिए कि एक गलत इस नौबरी इल्म के मैदान में भी आ जाते हैं हम्म। समझा ना आपने मेरा सवाल वही रहा फिराक साहब हाँ, हाँ। इसके नतीजे के तौर पर गालिब की शायरी जब मर्ज वजूद में आएगी तो हाँ। उसका मकाम क्या होगा अदब में इसका जवाब बता दू क्या जरा सा आपको तकलीफ देने वाली मैं बात करूंगा क्योंकि आप पंजाब के रहने वाले हैं इसलिए सवाल किया आपको मैं बता दू क्यों जी गालिब की हालात को आप खुदबीन से पढ़ उनके अंदर कई ऐठने थी हर वक्त ये खौफ कि मैं कॉमन सिटीजन में समझा जाऊं हम्म, बिल्कुल अच्छा हमको साहब रिसीव करने आए सही और गालिब में इतनी कुत रही थी कि सादा जबान लिख के अपने हमसरों से बड़ा टेर कर फिर क्यों न कहा सादा में ज्यादातर फिर क्यों क्यों कहा क्यों न कहा सादा ज्यादातर वो नहीं थी थे नहीं थे अच्छा कमजोर थे थे नहीं थे अच्छा मिर्जा बेदिल का भूत सवार जो हुआ वो तो जल्दी उतर गया तर्ज बेद उतरता नहीं है उतारने से भूत को उतार दीजिए फिर भी रहेगा और ही रहेगा तर्ज बेदिल मेरे अख्ता करना दूसरे ये कि गालिब के वक्त में गिर रहा था हिंदुस्तान तो जब <laughs> जब कोई कौम गिरावट के आलम में होती है तो इसकी तमन्ना खास लोगों को बहुत होती है कि मैं दूसरों से मुख्तलिफ जरा मैं मुख्तलिफ दखल न लें चुनाची काट काट के बात पैदा करनी उनके जो मुश्किल आचार हैं रिस्क पर कोई जब थोड़ी सब कुछ तो हो जाता फिराक साहब इस तमाम गुफ्तगु में नजीर अकबर आबादी के बारे में आपने कुछ नहीं फरमाया हम कैसे मान लिया था <laughs> अब एक उनके बारे में आ जाएगा अगर उनके बारे में क्योंकि वो मुख्तलिफ है अच्छा, जन भाषा की बात जहाँ हुई बोलचाल की आप जन साहित्य का क्या मतलब कुछ निकलता है ये भी उससे जुड़ जाएगा नजीर का नाम लिया है नजीर हिंदी में बीसवा एडिशन हुआ सुनिए मैं बचपन से नजीर तो कोर्स में रहता भी है और घर में भी थी और साल भी है और मेरे वालिद उसको खुदा भी मानते थे और अंग्रेजों ने तो शेक्सपियर का मुकाबला कर दिया नजीर का मैं भी नहीं है उसके हाँ? इस्लामी भी नहीं है नहीं इस्लामी नहीं है मगर आयत भी <laughs> मैं गया जब आगरे में तो सेव बाजार में मैकश अकबर आबादी के घर में ठहरा रमेश मेरे साथ थे तो हम दोनों उतरे कि उनके वहां तो जब नाश्ता आता आता चलो गर्म जलेबियाँ और चाय पी लिए तो खरीद के और फिर रिकॉर्ड कर लेंगे अब से बाजार बड़ा भारी बाजार वहां के आगरा निवासी जब आपस में बात करते हुए निकलते तो थे मैंने कहा यार तो नजदीक पड़वाजी की बात सुनाई पड़ रही है हाँ। अभी तक अभी तक अच्छा, अभी तक अब फूहड़ फोड़ी है जी वो डॉक्टर इसलिए प्रसाद साहब बात करा ये ये कहा जाता है जी और वो जीनियस था नजीर तो जीनियस में खूबी ये होती है कि वो कंकड़ पत्थर से ताजमहल बना देता वाह सही बात और हम संगमरमर से एक दीवार नहीं बना पाते तो ये नजीर का जवाब कि नजीर जो है उसके और बहुत से पावर से ऑब्जर्वेशन सांचे में ढाल देना दिल को छूने वाली बात कहना लेकिन जो शेफता ने कह दिया है कि जबान एतबार आप शेफता से मुतफिक हैं हाँ, हम लोग मुतफिक नहीं होते हैं लेकिन उसमें कुछ तत्व है कुछ हकीकत है उसके बाद अच्छा हम इस तरह नहीं रन अवे करते कम से कम मैं नज़ीर की उर्दू लिखूं तो मैं मुझको घमंड नहीं होगा अपने कला अगर मैं नज़ीर का ऑब्जर्वेशन अगर ले आऊं तो मैं अपने अप, दुगना बड़ा हो जाऊंगा फिराक साहब आपकी खुद अपनी शायरी में कई डिक्शन मिलते हैं मसलन जो आपकी नज्म हिंडोला है मिसाल के तौर पर हाँ। हिंडोला में बिल्कुल जबान दूसरी है हम्म। आपकी गजलों की जबान बिल्कुल दूसरी है हम्म। आपकी और नज्में जो हैं जो आपने ज़रा बलियक अंदाज से कही है उनकी जबान कुछ और है रवाइयों की और है रवाइयों की भी दो जबान हैं एक वो जो मुफक्राना है एक जो रूप के तो आपके यहाँ जो ये असरात मिले जुले हैं हम्म। वो किस अंदाज से आपने वो इसलिए कि मैं पैदा ही शायर नहीं हुआ था मैं स्टूडेंट ऑफ शायरी हूं तो मैं एकलेक्टिक एक लफ्ज है अंग्रेजी में इसको न्याज ने मेरे ऊपर मजमून में बताया भी है कि बड़ी तारीफ की कुत इंतखा बहुत है फिराक के अंदर तो मेरे यहाँ जो मल्टी स्टाइल अपेरेंटली आपको मिलती है और ये भी आप कह देते हो कि ये फिराक कह सकता था हम्म, हम्म, हम्म, तो मेरा जो अंडर करंट है कांस्टेंट वो तो एक है और वो इस वक्त मौका नहीं है कि मैं उसको बयान करूं लेकिन आप ये बहुत बड़ी बात सवाल उठाया है इन्होंने वो ये है कि अब जैसे मेरे अनीस है हर शेर खूबसूरत मानों में चुकली खा रहा है कि अनीस ने मुझे लिखा है खुद आपने जो कहा है कि मेरी हर गजल की यह आरजू हाँ। तो तो आपने शुरू में किया था फरमाया था कि गजल को सजाना और अल्फाज को सजाना भी शायर का एक बड़ा काम है वो भी आप बात है मुझे गुजारिश कर लेने एक सेकंड वो ये है कि आपने ये नहीं पूछा आपने सवाल के दौरान में कि आपके वहां जो तनवा है असलूब का यानी वैरायटी ऑफ स्टाइल उसके कुछ कॉजेज पर मैं रोशनी डाल दू इसलिए नहीं कि मैं चाहता ही था ये करना एक तो सब्जेक्ट का रंग पकड़ता है कलाम जब लड़ाई का बयान होगा तो बजमी शायरी आप नहीं करेंगे सही जब तलवार चलवाते हैं अनीस तो जबान काफी बदल जाती है जी हाँ। मनाजिर कुदरत से दूसरी चीज ये है कि मेरी शायरी पर छाई हुई है तमाम रवायतें छाई हुई हैं उर्दू की मगर उसमें एक चोर की तरह से अंग्रेजी स्टाइल भी जी हाँ, ये तो हम सब इससे आप साहब मेरा ख्याल है मैं सबकी नुमाइंदगी करूंगा अगर आपसे गुजारिश करूं कि आप अपने वो अशार सुनाइए जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है बात यह कि मैं ज्यादातर अपने अशार को नापसंद करता हूँ <laughs> फिर भी जो आपको पसंद हो फिर भी जो जो आपको कम से कम नापसंद हो बिटवीन इविल्स <laughs> अच्छा हंसी से दूर अलग रह के ये बात आप लोगों को और मुझको खुद तजुब में डाल देगा मैं कही मैं ही कह रहा हूं कि शायर को कुछ उससे मावरा होना चाहिए जो उसने उसका कलाम है हर बड़े शायर को अपनी शायरी से बड़ा होना चाहिए हाँ, बहुत सही बात बहुत अच्छी बात तो मैं अपने गूंगेपन को जिसको मूलियों की खूबसूरत जबान में अज से बयान करता हूँ मैं इसको काजल कलामी से बेहतर चीज समझता हूँ बड़ी चीज समझ अच्छा। मिसाल के तौर पर शेर दे दो हाँ। <laughs> मुस्तंद हाँ, अब हम बयान नहीं कर सकते कि ये चेहरा कितना खूबसूरत है उसको देखोगे तो देखते ही रह जाओगे कुछ ये मेरा मिश्रा बताइए कौन बयान था उसको देखोगे तो उसको... कुछ ऐसे ये देखते ही रह जाओगे यारो भूल गया हूं अच्छा मैं बताता अब तो आपका सवाल टू द पॉइंट है कि अपने शास्त्र बने लेकिन आप ये जान लीजिए कि आखिर बड़ी चीज जिंदगी में कोई ज़रूर ऐसी है कि जिस तरह हज़रत मोहम्मद से कोर्ट नहीं माल क्या शेयर करने के लिए क्राइस्ट को नहीं किया बुद्धा को नहीं किया तो आइडियल हमारे गालिब नहीं होंगे मगर काम के लिए गालिब होंगे शेर कहने के लिए होने के लिए हयात वजूद के लिए हमारे आइडियल मीर भी नहीं अच्छा मेरा आइडियल जो है वो पाए बगैर किसी आदर्श से ललचाना यानी ये की जो ये हमारी हाँ दर्शनगी कह दर्शनगी आपने ठीक कहा अच्छा अब देखिए लेकिन अब आप लोग मार मार के मुझे शायर बनाए हुए हैं तो सुनिए <laughs> ये तो आप अच्छा। मार मार के हकीम बनाते जैसे हम कहते हैं कि हाँ जी अभी हर शय होना है नुमाया शान इंसानी अभी हर शय से होना है अभी हर शय से होना है नुमाया शान इंसानी इंसानी अभी हर चीज में महसूस होती है कमी अपनी अभी हर चीज में होना है नुमाया शान इंसानी इसी का मतलब सुना देता हूँ जैसा भी हो इर्शाद भी अपनी पर छाई अजल भी रोशनी अवध भी अपनी पर छाई अजल भी रोशनी अपनी मोहब्बत को कमी क्या मौत अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी अपनी एक बहुत नाजुक मसले पर गौर करना पड़ा कि किसी छोटे कम उम्र की लड़की को अगर कोई सीड्यूस कर तो हम लोग थोड़ी थोड़ी करते हैं वही मैगडलिन मेरी मैगडलिन वाला कैसा होता थ्रो दिस टू शेर कहीं दामान बाद सुबह भी आलूदा होता है कहीं दामान बाद सुबह भी आलूदा होता है हाँ। कहीं दामान बाद सुबह भी आलूदा होता है बचा लेता है उसने नर्म खूब जोशीदगी जिसम थोड़ा ही दोषी ना होता हाँ। दोषी की लेता है हुस्न नर्म खू दोषी जगी अपनी अब बारो करके एक शेर कहा है मिर्जा बेदिल का शेर है दर हाय फिर दोस बाबू दो लाकिन अजबे दमागी गुप्तम فردا क्या शेर है आज बेदिमागी गुफ्तम के जन्नत के दरवाजे भी खुले हुए थे लेकिन मैं इतना बना था मैंने कहा भाई कर क्या बात हजबे दिमागी के भाई उसका शेर अब अब बेदिन का है और अब मेरा तर्जुमा उसका कह लिए या उससे बहुत हम अहले गम ने कल पर टाल रखा रहमत हक को हम अहले गम ने कल पर कल पर टाल रखा रहमत हक को खुले थे खुल्द के दर भी तबीयत ही न थी अपनी इसमें इसमें अपनी बात पैदा हो गई अब ये शेर देखिए गौर करना ठीक कुछ ये तो इस्तेफादा है क्योंकि इजाफे के साथ है हाँ, हाँ। इजाफे के साथ और वो इशारा किया मैं झल्ला गया था न्याज की मोमिन से इनका रंग मिलता है मोमिन के माने हैं नाजुक इशारियत के बस तो वहाँ हमको लड़ाई नहीं है वरना मैं मोमिन का बड़ा कर बल्कि आपने जौक के बारे में मजामी लिखे हैं जौक हाँ, के साथ जस्टिस की है थोड़ा मुझे आपकी मैं तारीफ करूं तो मैं आपकी तरह हो जाती हर चीज कहता हूं हम्म, हम महल दिल को मिल न सका इज्न भी हमने चाहा था कि निराश हो जाए लेकिन माशूक इजाजत नहीं दे रहा हम महल दिल को मिल न सका इज्न भी बेगानवार कहती है वो आंख अभी नहीं कहती है वो आंख अभी नहीं अभी नहीं तो बड़ी दौलत है यार हाँ। बेगानवार कहती है वो कभी नहीं जो लाग है हयात हयात का क्षेत्र जो है कहीं खत्म ही नहीं जो लाग है हयात कहीं खत्म ही नहीं मंजिल न कर हदूद से तो दुनिया बनी ही नहीं मंजिल न तो से दुनिया बनी नहीं अब पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी चलने तो भाई हम हम कौन होते हैं तो बताओ हमारा कैसे तो मुल्क है कि मुल्कियत अहले अहले हाक माने वक्त से हाक माने वक्त से पूछना है ये मुझे हम्म। वाले वक्त से पूछना है ये मुझे कोई सरजमीन हो मुल्क है कि मिल्कियत से पूछना है ये मुझे कोई सरजमीन हो मुल्क है कि मिल्कियत अर्ज करता हूँ सयाद रिंद की जमीन है खुली है कुंज कफस में मेरी जबां से याद हम्म। मैं माजरा चमन क्या करूं मैं यहां से याद अर्ज करता हूं उन्हीं के दिल हैं उन्हीं के दिल हैं हरीफ अमीन उन्हीं के दिल हैं अमीन आजादी उन्हीं के हृदय उस राज को छिपाए हुए रखे हुए हैं दिल में जो आजादी का राज है जो जानते हैं असीरी है एक फंसिया एक शोहरत ने हमको कर